एनोशो टॉक कैवल्य उपनिषद नंबर नाइन अपने समस्त दोषों को जलाकर संसार बंधन से छूट जाते हैं making the mind the lower arani churning stick and the Om the upper by repeating turning of the path of knowledge gyan abhyas a wise man burns burns up all the cords of his प्रवेश के पहले सूत्र के कुछ आधारभूत शब्दों को समझ लें पहला आधारभूत शब्द इस सूत्र में है अंतकरण अंतकरण के साथ थोड़ी कठिनाई है क्योंकि जिसे हम अंतकरण कहते हैं वो अंतकरण नहीं है और जो अंतकरण है उसका साधारणता हमें कभी पता ही नहीं चलता हम किसे अंतकरण कहते हैं एक आदमी चोरी को जाता है कदम उठाता है चोरी के लिए भीतर कोई कहता है चोरी मत करो चोरी पाप है एक आदमी मांस खाने जाता है भीतर कोई कहता है मांस मत खाओ मांस खाना बुरा है कोई शराब घर में जाता है भीतर कोई कहता है शराब मत पियो इस आवाज को हम अंतःकरण कहते हैं कॉन्सियंस कहते हैं पर यह अंतःकरण नहीं है ये तो समाज की आवाज है हमारे भीतर हमारी अपनी आवाज नहीं ये हमारी आत्मा की आवाज नहीं है ये तो समाज की सिखावन है ये तो समाज की शिक्षा है तो यदि गैर मांसाहारी घर में आप पैदा हुए हैं शाकाहारी घर में पैदा हुए हैं और बचपन से ही सुना है कि मांसाहार पाप है मांसाहार बुरा है तो ही मांसाहार करते समय आपका अंतकरण कहेगा बुरा है पाप है मत करो ये आपकी आवाज नहीं है क्योंकि मांसाहारी के घर में जो बड़ा होता है उसमें यह आवाज सुनाई नहीं पड़ती अगर इसे हम अंतकरण कहें तो हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया में कई तरह के अंतकरण तब तो हमें मानना पड़ेगा कि परमात्मा की जो आंतरिक आवाज है वो भी बहुत तरह से बोलती किसी को कहती है कि मांसाहार करो किसी को कहती है मांसाहार मत करो समाज के नियम की भिन्नता के कारण ये भिन्नता है ये अंतकरण की आवाज नहीं जिस दिन अंतकरण की आवाज सुनाई पड़ती है और अंतकरण उपलब्ध हो जाता है उस दिन जगत के कोने में वो आवाज एक ही वो दो आवाजें नहीं होती हिंदू का अंतकरण मुसलमान का अंतकरण और ईसाई और जैन का अंतकरण ऐसे कोई अंतकरण नहीं होते लेकिन जिसे हम अंतकरण कहते हैं वो हिंदू का अलग होता है जैन का अलग होता है बौद्ध का अलग होता है हिंदू में भी ब्राह्मण का अलग होता है छत्री का अलग होता है शूद्र का अलग होता है समाज ने बड़ी होशियारी की है इसके पहले कि हमें पता चले कि हमारे भीतर की आवाज क्या है समाज एक आवाज को भीतर बिठा देता है और हमें समझा देता है कि यही हमारे भीतर की आवाज है समाज की की मजबूरी है समाज को करने का कारण है तो समाज को दोष देना व्यर्थ है क्योंकि समाज की अपनी मुसीबत है वो जो भीतर का अंतकरण है वो सभी लोग खोज ही नहीं पाते और अगर समाज कोई भी अंतकरण पैदा ना करे तो आदमी पशु जैसा हो जाए तो समाज आप पर छोड़ नहीं सकता कि आप जब खोजेंगे अंतकरण तब तक आपको छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि भय है इस बात का कि आप बिल्कुल पशु जैसे ना हो जाए खोजना तो दूर रहा कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए तो फिर समाज भी आपको अंतकरण देने में असमर्थ हो जाए इसलिए जिन जिन समाजों में धर्म का प्रभाव शिथिल हुआ है जिन जिन समाजों में पारिवारिक शिक्षण कम हुआ है जिन जिन समाजों में शिक्षा का काम निरपेक्ष सरकारों ने ले लिया है वहां असली अंतकरण की आवाज तो पैदा ही नहीं होती नकली अंतकरण की आवाज भी समाप्त हो जाती और आदमी करीब करीब मनुष्य से नीचे के तल की स्वच्छंदता में जीना शुरू कर देता है समाज की मजबूरी है आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए समाज इसके पहले कि आप अपने अंतकरण को खोजें एक सब्सटीट्यूट कॉन्सियंस एक परिपूरक अंतकरण आपके भीतर निर्मित करता है तो हर समाज अलग करेगा क्योंकि हर समाज की समझ मान्यता परंपरा संस्कृति भिन्न है एक समाज सोच भी नहीं सकता कि चचेरी बहन से शादी हो सकती है सोच ही नहीं सकता लेकिन दूसरा समाज सुविधापूर्ण रूप से कर सकता है न केवल सुविधापूर्ण रूप से बल्कि जब तक चचेरी बहन मिले तब तक किसी और से शादी करना व्यर्थ ही माने अर्चन जरा भी नहीं है समाज की मान्यता के ऊपर निर्भर है और समाज की मान्यता हजारों साल के विशेष भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं राजस्थान में ऐसे लोग हैं जिनमें यह परंपरा रही है कि जब तक लड़का चोरी करने में कुशल ना हो उसका विवाह ना हो सके लड़की वाला पूछेगा कि लड़के ने कितनी चोरियां की कितने डांके डाले कभी जेल भी गया है या नहीं अगर लड़के ने चोरी ही नहीं की डांका ही नहीं डाला जेल भी नहीं गया तो ऐसे निकम में लड़के के साथ शादी कौन करेगा चोरों के समाज है तो वहां चोरी नियम है वहां चोरी में कुशलता योग्यता है पख्तून है पाकिस्तान की सीमा पर मेरे एक मित्र पख्तुनिस्तान की यात्रा पर थे उन्होंने लौट के मुझे कहा कि जब हम यात्रा पर भीतर प्रवेश किए पख्तूनों के इलाकों में तो हमें कहा गया कि सांझ के बाद कभी भी जीप में मत चलना क्योंकि पख्तून लड़के अक्सर ही ड्राइवरों को निशाना बना लेते तो उन्होंने कहा लेकिन हमारा किसी से झगड़ा नहीं कोई निशाना क्यों बनाएगा तो उन्होंने कहा झगड़े का सवाल नहीं है निशाना सीखने के लिए जवान लड़के निशाना सीख रहे हैं तो एक ड्राइवर जा रहा है गाड़ी जा रही है वो गोली मार देंगे अगर आप चिड़िया को निशाना बना सीखने के लिए मार सकते हैं तो हर्ज क्या है आदमी को भी निशाना बनाया जा सकता सीखने के लिए और फिर जब अंत में आदमियों को ही मारना हो तो चिड़ियाओं को बीच में क्यों फंसाना निशाना ठीक ही जगह लगाना सीखना चाहिए मगर पख्तून लड़के को कोई अंतकरण में ऐसा भाव पैदा नहीं होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं क्योंकि उसके समाज में ये कोई सवाल नहीं जापान में आत्महत्या बड़ा गौरवपूर्ण कृत्य है अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी कर्तव्य से च्युत हो जाता है तो ये शालीनता की बात है कि वो तत्काल अपनी आत्महत्या कर ले ये इज्जत की बात है नैतिक बात है और जापानी आदमी का अंतकरण कहता है कि इसी वक्त आत्महत्या कर लो अगर नहीं करोगे तो यह अपराध है इसलिए जापान में करी बड़ा सम्मान्य कृत्य है दुनिया में कहीं नहीं है हमको कठिन लगेगा लेकिन यहां हमारे मुल्क में भी जैनों ने संथारा को सम्मान कृत्य माना है अगर कोई व्यक्ति उपवास करके नियम पूर्वक धर्म पूर्वक ध्यान करता हुआ अपने शरीर को विसर्जित कर दे तो इसे आत्महत्या जैन नहीं कहते ये संथारा है और इसका बड़ा सम्मान होगा क्योंकि इस व्यक्ति ने शरीर का ठीक से त्याग किया है लेकिन किसी भी दूसरे मुल्क में यह आत्महत्या समझी जाएगी और यह आदमी कानून के सामने अपराधी हो जाएगा अगर हम दुनिया के रीति नियमों का ख्याल करें तो हमें पता चलेगा कि करोड़ों अंतकरण है ये अंतकरण नहीं अंतकरण तो हर आदमी के भीतर एक सा है वो आवाज तो बिल्कुल एक सी है वो स्वर तो बिल्कुल एक सा है ये समाज के स्वर है लेकिन बच्चे का बच्चे को पता भी नहीं होता तब से हम उसे समाज का स्वर उसके भीतर डालना शुरू कर देते हम उसे जो सिखा देते हैं वो सीख जाता है वैज्ञानिक कहते हैं कि सात वर्ष के पहले आदमी अपना पचहत्तर प्रतिशत ज्ञान सीख जाता है पचहत्तर प्रतिशत जिससे जीवन चलेगा तो अंतकरण तो करीब करीब सात साल के भीतर निर्मित हो जाता है और ये अंतकरण फिर बदलना बहुत कठिन है क्योंकि यह आधार बन जाता है इसके ऊपर ही व्यक्ति खड़ा होता है और इसी के आधार पर उसके जीवन का सारा का सारा भवन निर्मित होता है और जब भी वो कोई काम करने जाता है तो इसी अंतकरण से आवाज आती है अगर इस अंतकरण के विपरीत है तो आवाज आती है कि ये मत करो समाज इस अंतकरण को दोहरा इंतजाम करने के लिए बनाता है समाज बाहर कानून बनाता है ताकि कोई आदमी गलत ना कर सके लेकिन बाहर का कानून कितना ही कुशलता से बनाया जाए उससे भी ज्यादा कुशल अपराधी सदा उपलब्ध हो जाते क्योंकि आखिर आदमी ही कानून बनाता है तो आदमी ही उससे ज्यादा कुशलता से कानून से बच के अपराध करने की क्षमता भी खोज लेता है फिर कितना ही सख्त इंतजाम हो बाहर बाहर का इंजाम अपराधों से मुक्ति दिला नहीं सकता तो समाज एक दूसरी व्यवस्था करता है भीतर अंतकरण निर्मित करता है ताकि बाहर अपराध का भय रोके और भीतर खुद की अंतरात्मा रोके कि मत करो ये पाप है और कानून से तो कोई बच भी सकता है लेकिन अपने अंतकरण के सामने निंदा से बचना बहुत मुश्किल है इसलिए जो आदमी अंतकरण की मानकर चलता है समाज उसको आदर देता है जो नहीं मानकर चलता उसको अनादर देता है जो आदमी मानकर चलता है उसे पुण्य की संपदा मिलती है जो नहीं मानकर चलता है उसे पाप मिलता है जो मानकर चलता है उसे स्वर्ग का प्रलोभन समाज देता है जो नहीं मान के चलता उसको नरक में डालने का दंड देता है ये सारी भीतरी व्यवस्था है तो एक तो अदालत बाहर है जो बाहर से रोकती रहेगी और एक अदालत भीतर है समाज की जो भीतर से रोकती रहेगी इन दोनों के बीच में व्यक्ति कसा जाता है ताकि वो गलत ना हो जाए ये हो सकता है कि वो गलत होने से बच सके लेकिन गलत होने से बच जाना अच्छा होना नहीं ये हो सकता है कि वो अनैतिक न हो पाए इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में लेकिन अनैतिक न होना नैतिक होना नहीं है यह हो सकता है वो अपराधी ना हो असामाजिक ना हो लेकिन असामाजिक और अपराधी न होना धार्मिक होना नहीं ये सिर्फ निषेध की व्यवस्था है जो आदमी बुरा नहीं करता है ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि वो अच्छा करता है और सच्चाई तो यह है जो आदमी बुरा करना चाहता है और इस व्यवस्था के कारण बाहर की और भीतर की दोनों सामाजिक व्यवस्थाएं इस व्यवस्था के कारण नहीं कर पाता है तो एक तरफ से नहीं कर पाता तो दूसरी तरफ से करने के उपाय खोजता है एक दरवाजे से चूकता है तो दूसरा दरवाजा खोलता है घूम फिर के मार्ग खोजता है और बुराई कर लेता है हाँ बुराई की शक्ल बदल जा सकती है बुराई का ढंग बदल जा सकता है बुराई का नाम बदल जा सकता है लेकिन जिस बुराई को व्यक्ति ने जबरदस्ती दबाया है वो कहीं ना कहीं से विस्फोट होने का मार्ग खोजती रहती वो विष की तरह भीतर हो जाती और कहीं से भी फोड़ा बन के निकलती इस कारण से सारी की सारी मनुष्य जाति बहुत गहरे में रुग्ण हो गई है अनैतिक दुख पाता है समाज उसको दंड देता है अगर समाज दंड नहीं दे पाता तो उसका खुद का समाज द्वारा निर्मित अंतकरण आत्मनिंदा आत्मग्लानी आत्म अपराध हीनता से भर जाता है वो भी दंड हो जाता है लेकिन जिसको हम नैतिक कहते हैं जो अपराध से भी बच जाता अदालत से बच जाता आत्मनिंदा से बच जाता वो भीतर न मालूम कितने मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता इस सदी के और समस्त मनुष्य जाति के इतिहास के सबसे बड़े मनस्वित और मनस रोगों के ज्ञाता सिगमन फ्रायड ने कहा है कि जब तक आदमी को नैतिक बनाने की कोशिश चलेगी तब तक मानसिक रोगों से छुटकारा नहीं हो सकता खतरनाक वक्तव्य है लेकिन एक जानकार का वक्तव्य जिसने लाखों मानसिक मरीजों को देखकर अध्ययन करके विश्लेषण करके मनोचिकित्सा करके ये नतीजा दिया है कि जब तक आदमी को नैतिक बनाने की चेष्टा चलती है तब तक मानसिक रोगों से छुटकारे का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि हम एक तरफ से बुराई को दबा देते हैं वो बुराई दूसरी तरफ से निकलना शुरू होती है और ध्यान रहे जब वो दूसरी तरफ से निकलती तो ज्यादा विकृत होकर निकलती परवर्टेड होकर निकलती उसका स्वाभाविक मार्ग छिन जाता है और कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी रोकते हैं तो वो दस होकर निकलती है जैसे एक झरने को रोक दे तो दस धाराओं में फूट के बह जाए फ्राइड से भी लोग पूछते थे कि फिर उपाय क्या है कि आदमी को नैतिक बनाना बंद कर दे तो फ्राइड कहता है नैतिक बनाना बंद किया कि सारी सभ्यता और सारी संस्कृति खो जाएगी और अगर संस्कृति और सभ्यता बनाए रखनी है तो नैतिक बनाना पड़ेगा लेकिन परिणाम में आदमी मानसिक रूप से ग्रस्त होता रहेगा बीमार होता रहेगा इसलिए जितना सभ्य समाज हो उतनी ज्यादा मानसिक बीमारी हो जाती मात्रा सभ्यता के साथ बढ़ती है तो फ्रायड ने कहा है कि सभ्यता को अगर रखना है तो उसका यह अनिवार्य फल है भोगना ही पड़ेगा मगर यह बड़ी दुखद बात है और अवसाद से भरती है मन को ये दोनों ही बातें चुनने योग्य नहीं मालूम पड़ती कि आदमी असभ्य हो जाए असंस्कृत हो जाए पशुओं जैसा हो जाए ये भी मन मानने को नहीं करता और ये भी मानने को नहीं करता कि पूरी जमीन एक पागलखाना होती चली जाए और धीरे धीरे लोग इतने मानसिक रोगों से भर जाएं जैसा कि आज हो गया है आज जो बहुत सभ्य मुल्क है वहां आज सामान्य चिकित्सक की बजाय मानसिक चिकित्सक की मांग बढ़ती चली जाती और सामान्य बीमारियां सामान्य हो गई हैं उनका उनके इलाज की कोई दिक्कत नहीं रही है उनका इलाज हो जाता है चिकित्सा खोज ली गई है मन की बीमारियां असामान्य रूप से भारी होती जा रही उनका इलाज मुश्किल मालूम होता जा रहा और इलाज करने खोजने जाते हैं तो जितनी जटिलताएं दिखाई पड़ती हैं वो घबराने वाली हैं पिछले 25 वर्षों के मनस्विदों की खोज का ये परिणाम है कि अगर एक पागल आदमी को ठीक करना हो तो पहले वो उसी आदमी को ठीक करते थे अब वो कहते हैं कि इस पागल आदमी को हम तभी ठीक कर सकते हैं जब इसके पूरे परिवार को ठीक करें क्योंकि ये परिवार के ही कारण पागल है और अब मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि परिवार को भी ठीक करने से क्या होगा इसका परिवार भी एक समूह का हिस्सा है और वो समूह पूरा का पूरा कुछ पागलपन से भरा है इसलिए ये परिवार पागल हो जाता है इसलिए इस परिवार का एक आदमी पागल हो जाता है और मजे की जो बात है वो ये है कि वो कहते हैं अगर 20 परिवारों का एक समूह हो तो जो परिवार सबसे ज्यादा संवेदनशील होगा ईमानदार होगा वो सबसे पहले पागल हो जाए उस परिवार में जो आदमी सबसे ज्यादा संवेदनशील होगा और ईमानदार होगा वो सबसे पहले पागल हो जाए क्योंकि बेईमान आदमी पागल होने से बचने का रास्ता निकाल लेता है वो कहता कुछ है करता कुछ है पागल नहीं होता वो लेकिन अगर बहुत ईमानदारी से वो जो कहता है वही करे तो मुसीबत में पड़ जाता ये बड़ी मुश्किल बात है सारी नीति कहती है कि आचार और विचार एक सा होना चाहिए लेकिन हमें आदमी मिलते नहीं जिनके आचार और विचार एक से हों जिनको हम कहते हैं कि इनके आचार और विचार एक से हैं उनका भी परीक्षण वैज्ञानिक हमें पता नहीं है करना नहीं तो पता चले कि एक से नहीं है अगर बिल्कुल एक से हो तो आदमी पागल हो जाएगा अगर समाज के अंताकरण को मान के चला है तो अगर वो पागल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंजाम कर रहा है उसके जीवन के पीछे के दरवाजे भी हैं जिनसे निकल के वो अपने पागलपन का निकास कर लेता है ये अंतकरण इस सूत्र का अंतकरण नहीं ये पहली बात ख्याल ले ले इस सूत्र में जिस अंतकरण की बात है वो वो अंतकरण है जब व्यक्ति इस अंतकरण को बिल्कुल ही हटाकर अपने भीतर झांकता है समाज की समस्त परतों को हटाकर समाज को सब तरह से अलग करके समाज ने जो जो डाला है भीतर समाज ने जो जो आरोपित किया है समाज ने जो जो संस्कार निर्मित किए हैं उनकी परछाई भी ना पड़े उन सबको दूर हटाकर एक तरफ रखकर जब कोई अपने भीतर झांकता है तब उसे पहली बार उस अंतकरण का पता चलता है जो हमारे शरीर में हमें वैसे ही मिला है जैसे आंखें मिली हैं हृदय मिला है बुद्धि मिली है वो हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है उस अंतकरण की जब शुद्धि हमारे ख्याल में आ जाए और उसकी आवाज सुनने की कला हमें आ जाए तो फिर इस जीवन में विचार और आचरण में कोई फर्क नहीं होता तब इस जीवन में विचार और आचरण में कोई भी फर्क नहीं होता और तब इस जीवन में आदमी कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे ठीक तो कुछ और लगता है लेकिन करता मैं कुछ और तब जो ठीक लगता है वही होता है सुकरात ने कहा है ज्ञान ही आचरण है वो उसी ज्ञान की बात कर रहा है जो अंतकरण से होता है ज्ञान और आचरण में फिर कोई फर्क नहीं है अगर फर्क है तो समझना कि आप जिस अंतकरण की बात कर रहे हैं वो आपका अंतकरण नहीं है उस आंतरिक अंतकरण का अनुभव ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा कोई आग में जानते हुए कि हाथ जल जाता है और हाथ नहीं डालता क्योंकि जानता है कि हाथ जल जाता है और कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं जानता तो हूं कि हाथ जल जाता है फिर भी क्या करूं डालता हूं उस अंतकरण की आवाज पर आदमी वैसे ही चलता है जैसे आदमी को मकान के बाहर निकलना हो तो दरवाजे से निकलता है और वो ये नहीं कहता कि मुझे मालूम तो है कि दरवाजा कहां है लेकिन क्या करूं कमजोरी कि दीवार से निकल जाता हूं सिर फूट जाता है मालूम तो है कि दरवाजा कहां है नहीं वैसा आदमी कभी नहीं कहता कि मुझे मालूम है कि ठीक क्या है फिर भी मैं गलत करता हूं क्योंकि वैसी अंतकरण की स्थिति में जानना और होना जानना और करना सम अर्थी हो जाते फिर आदमी वैसा नहीं कहता कि मुझे पता तो है कि क्रोध बुरा है लेकिन क्या करूं हो जाता है मुझे पता तो है कि गाली नहीं देनी थी बुरी है पीछे पछताता भी हूं लेकिन क्या करूं हो जाता है ध्यान रहे ये जो हमारी चित्त की दशा है ये बता रही है कि हमारा करना कहीं और से आ रहा है और हमारी समझ उतनी गहरी नहीं जहां से करना आ रहा है तो मेरा ऊपर का अंतकरण समाज ने मुझे सिखाया है क्रोध बुरा है तो मैं जानता हूं क्रोध बुरा है लेकिन गहरे में मेरा जो व्यक्तित्व है वो इससे ज्यादा गहरा है वो क्रोध करता है और मैं अवश्य हो जाता हूं मेरा कोई उस पर वश नहीं चलता हाँ एक ही काम मैं कर सकता हूं जो कि थोते अंतकरण वाले लोगों को निरंतर करना पड़ता है वह है पश्चाताप कर लूंगा फिर पछता लूंगा और मजे की बात यह है कि कितना ही पश्चाताप करो इससे जो किया है उसमें बदलाहट नहीं आती आज क्रोध करूंगा सांझ पछताऊंगा कल सुबह फिर क्रोध करूंगा कल सांझ फिर पछताऊंगा और तब पछतावा क्रोध का एक अनिवार्य हिस्सा मात्र हो जाएगा और ये भी आप जान के हैरान होंगे आमतौर से हम सोचते हैं कि पछताने वाला आदमी अच्छा आदमी है कम से कम बेचारा क्रोध करता है तो प्राश्चित तो करता है कोई बात नहीं आज क्रोध होता है प्राश्चित होता है धीरे धीरे प्राश्चित की समझ बढ़ेगी तो क्रोध बंद हो जाएगा बात बिल्कुल उल्टी आदमी प्राश्चित इसलिए नहीं करता कि वो क्रोध को बंद करने वाला है प्राश्चित इसलिए करता है कि क्रोध से उसके भीतर स्वयं के अहंकार को जो चोट लगती है प्राश्चित से उसको वो पहुंच डालता है फिर पुरानी जगह खड़ा हो जाता है जहां क्रोध करने के पहले खड़ा था अब वो फिर क्रोध करने में समर्थ है अगर मैं सोचता हूं कि मैं अच्छा आदमी हूं और सभी लोग सोचते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं मैं सोचता हूं कि मैं अच्छा आदमी हूं मैं सोचता हूं कि मैं कभी क्रोध नहीं करता अगर कभी करता भी हूं तो वो दूसरे लोग ऐसी स्थिति बना देते हैं इसलिए करता हूं या दूसरों में सुधार करने के लिए करता हूं ऐसे हम न मालूम कितने रेशनलाइजेशन अपने आप को समझाने के लिए करते रहते हैं फिर मैं क्रोध करता हूं तो फिर मुझे चोट लगती है मेरे ही सामने मेरा अहंकार दीन हो जाता मुझे लगता है कहां गया वो अच्छा आदमी तो क्या मैं अच्छा आदमी नहीं क्रोध तो मैंने किया तो अब मेरे अच्छे आदमी की जो प्रतिमा खंडित हो गई उसे पूरा करने का उपाय पश्चाताप है अब मैं पछताता हूं बुरा किया बहुत बुरा किया ऐसा नहीं करना चाहिए था हो गया अघट था घट गया नियति थी भाग्य था मूर्छा आ गई ख्याल ना रहा स्थिति ऐसी हो गई हजार बहाने खोज कर मैं पछता लेता हूँ मान लेता हूँ कि बुरा किया इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब यह है कि आदमी तो मैं अच्छा ही हूं बुरा हो गया आदमी बुरा नहीं हूं आदमी का बुरा होना और बुरे कर्म के हो जाने में बड़ा फर्क है एक वृक्ष है उसमें एक पत्ता सूखा हुआ है इससे कोई वृक्ष सूखा हुआ नहीं होता आदमी तो मैं अच्छा ही हूं करोड़ कृत्य में एक कृत्य बुरा हो जाता तो उससे आदमी तो बुरा नहीं हो जाऊंगा पश्चाताप करके सूखे पत्ते को काट के गिरा देता हूं वृक्ष फिर हरा हो जाता फिर मैं मान लेता हूं कि आदमी तो अच्छा ही हुआ एक बात बुरी हो गई इससे कोई मैं बुरा नहीं हो जाता हूं किससे बुरा नहीं हो जाता फिर पश्चाताप भी मैंने कर लिया बुरे आदमी कहीं पश्चाताप करते माफी भी मांग सकता हूं क्षमा भी मांग सकता हूं लेकिन ये मैं सिर्फ पुनर् स्थिति वही की वही पाने की कोशिश कर रहा हूं जो क्रोध के पहले मेरी थी उसे जिस क्षण में पालूंगा मैं फिर उसी जगह आ गया जब मैं पुनः क्रोध कर सकता हूं मैं पुनः क्रोध करूंगा जिस अंतकरण को हम अंतकरण समझते हैं वो हमें सिर्फ इसी दमन पश्चाताप विकृति में ले जाता है लेकिन समाज को उपा देता है समाज थोड़ा नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है इस सूत्र में जिस अंतकरण की बात है वो वो अंतकरण है जिसे हम कहें समाज से अस्पर्शित मेरी ही भीतर की मेरी ही चेतना की जो आवाज सहज स्फूर्त मेरा ही जो स्वर है उसकी तलाश धर्म अंतकरण की तलाश है क्या है मेरा अंतकरण जीसस एक गांव के बाहर ठहरे हुए गांव के लोग एक स्त्री को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि व्यभिचारिणी है और हमारे शास्त्र में लिखा है कि व्यभिचारिणी को पत्थरों से मार के मार डालना चाहिए आप क्या कहते हैं उस शास्त्र का जीसस को भी पता था जीसस ने भी बचपन से उसी शास्त्र को पढ़ा सुना था जीसस भी उसी समूह के अंग थे और वे गांव के लोग जानकर ही ये मामला लाए थे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि अगर जीसस कहे कि नहीं वो शास्त्र गलत है तो फिर हम जीसस को ही पत्थर मार डालें और अगर जीसस कहे कि शास्त्र सही है तो हम जीसस के सामने ही इस स्त्री की हत्या करें और फिर जीसस से पूछें कि तुम्हारी शिक्षाओं का क्या हुआ जिनमें तुम कहते हो कि अगर कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा उसके सामने कर देना और जिनमें तुम कहते हो कि शत्रु को भी प्रेम करना और जिनमें तुम कहते हो कि बुराई का भी प्रतिरोध ना करना रेसिस्ट नॉट इविल ऐसा तुम कहते हो उसका क्या हुआ तो उन्होंने एक पहली में जीसस को फंसाना चाहा जीसस ने आंख बंद कर ली फिर जीसस ने आंख खोली ये क्षण भर का आंख बंद करना और खोलना जीसस का अपने अंतकरण में उतरना था और जीसस ने कहा कि शास्त्र बिल्कुल ठीक कहता है कि जो बेविचार करे उसे पत्थरों से मार डालो लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शास्त्र में एक बात छूट गई और वो ये है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यविचार न किया हो या व्यविचार का विचार न किया हो तो अब तुम पत्थर उठा लो तब तो भीड़ में जो समाज के नेता थे आगे खड़े थे वो धीरे धीरे पीछे सरकने लगे जीसस ने कहा कोई भाग ना पाए क्योंकि आज इस स्त्री की हत्या करनी ही है और सामने आया वो आदमी पत्थर उठा के जो कह सकता हो कि मैंने व्यविचार का विचार नहीं किया व्यविचार नहीं किया भीड़ छट गई थोड़ी देर में उस निर्जन जगह में जीसस और स्त्री के सिवाय कोई भी ना बचा उस स्त्री ने जीसस के चरणों पर सिर रख दिया और कहा कि मुझे दंड दो क्योंकि उनसे तो मैं कह सकती थी कि मैं बेचारिणी नहीं हूं लेकिन तुमसे कैसे कहूं उनसे मैं लड़ सकती थी कि वे मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं लेकिन तुमसे मैं कैसे कहूं मुझे दंड दो जीसस ने कहा मैं तुझे दंड देने वाला कौन जिसने से फिर क्षण भर को आंख बंद की आंख खोली और उस स्त्री को कहा कि तू जा क्योंकि उस परम शक्ति के सामने ही तेरा निर्णय हो सकता है मैं निर्णय करने वाला कौन ये अंतकरण की आवाज है ये जीसस का बार बार भीतर झांकना निश्चित ही जीसस के अंतकरण ने कुछ बात कही जो दुनिया में जिसके पास भी अंतकरण होगा यही बात कहेगा क्या हक है उसे जिस जो खुद व्यभिचारी रहा हो किसी को व्यभिचारी कहने का भी क्या हक है लेकिन जीसस तो व्यभिचारी भी नहीं थे उन्हें तो हक था पत्थर मार देने का लेकिन जीसस ने फिर अपने अंतकरण में झांका और कहा कि मैं कौन हूं तेरा निर्णय करने वाला न मैंने तुझे बनाया न मैंने तुझे जीवन दिया न मैं तेरे जीवन का नियंता हूं तो मैं निर्णायक कैसे हो सकता हूं तो मैं इतना ही कहता हूं तुझसे कि दूसरों का निर्णायक मत बनना तू जा सकती ये किसी समाज की आवाज नहीं ऐसा किसी शास्त्र में लिखा नहीं ऐसा किसी समाज ने किसी को सिखाया नहीं ये अनसीखी अनलर्न सहज स्फुरना है अगर बुद्ध से पूछेंगे तो यही आवाज निकलेगी अगर महावीर से पूछेंगे तो यही आवाज निकलेगी ये आवाज व्यक्तियों की आवाज नहीं है व्यक्तियों के भीतर जो छिपा है सर्वात्मा निर्व्यक्ति व्यक्तियों के भीतर जो छिपी है चैतन्य की ऊर्जा उसकी आवाज है इसका नाम है अंतकरण तो इसकी तलाश करनी पड़े हमारे पास है तो लेकिन छिपा है प्रकट बिल्कुल नहीं है तो क्योंकि हम हैं चेतना है तो चेतना का कि अपनी वाणी अपनी आवाज है लेकिन छिपी है और जो आवाजें हमसे निकलती रहती हैं वो दूसरों की आवाजें जो हम में डाली गई वे आवाजें ग्रामाफोन रिकॉर्ड की आवाजें हैं वे हमारे अंतकरण की आवाजें नहीं ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह हमारे भीतर ग्रुप बनाए हैं समाज ने उन पर सुई घूमती है बुद्धि की आवाज आ जाती है लगता है ये बुरा वो भला ये भला और बुरा एक तरफ जो करने की क्षमता रखता हो और भीतर उतरने का साहस जुटाता हो कि मैं देखूं उस जगह को जिस दिन मैं पैदा नहीं हुआ था उस दिन भी जो जगह मेरी थी जब मैं गहन अंधेरी रात में सो जाता हूँ सुसुप्त हो जाता हूँ सपने भी खो जाते हैं तब भी जो जगह मेरी है जब मैं मरूंगा शरीर गलेगा टूटेगा नष्ट हो जाएगा तब भी जो जगह मेरी होगी उस जगह को खोजू वही है अंतःकरण खोजने की एक प्रक्रिया आपको कहूं जब भी आपके भीतर लगे कि ये बुरा वो भला ये ठीक वो गैर ठीक तब जरा निरीक्षण करें ये जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उसकी उसका प्रतिफलन है आपका विवेक है शंकर ने छोटी उम्र में सन्यास लिया बूढ़ी मां थी बड़ी उम्र में शंकर पैदा हुए थे पिता चल बसे थे तो बूढ़ी मां हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि शंकर संन्यास ले ले नदी में तैरते थे तो मगर ने शंकर का पैर पकड़ लिया तो सारा गांव बचाने को इकट्ठा हो गया मां भी भागी हुई आई तो शंकर ने चिल्ला के पूछा कि मैं मगर से प्रार्थना कर सकता हूं और आशा है मुझे कि पैर छूट जाए लेकिन सन्यास के बाबत क्या अगर सन्यास के लिए तू राजी हो तो मुझे लगता है कि मगर पैर छोड़ देगी माँ ने यह देख के कि मरने से तो सन्यास ही बेहतर और इससे कम में कोई राजी नहीं होता कह दिया कि मैं वायदा करती हूं तू सन्यास ले लेना मगर बच पता नहीं मैत्री रही होगी गहरी शंकर और उस मगर में किन्हीं जन्मों के संबंध रहे होंगे मगर ने पैर छोड़ दिया शंकर बच गए सन्यास लिया लेकिन मां ने जाते वक्त कहा कि एक वायदा कि मेरा अंतिम दाह संस्कार तू ही करना ये उलझन की बात थी उन दिनों शंकर कहाँ होंगे कहाँ भटकते होंगे पैदल थी यात्रा सारे मुल्क में भटकना था भिखारी होंगे फिर भी वायदा उन्होंने किया फिर माँ बीमार पड़ी खबर मिली शंकर भागने लगे शिष्यों ने साथियों ने समझाया कि कौन माँ कौन पिता सन्यासी का कोई माता पिता होता और दिए थे वायदे अज्ञान में माया है सारा संसार तुम ही कहते हो कैसा वायदा कैसा वचन कौन पूरा करने वाला है सब सपना है तुम ही कहते हो शंकर आंख बंद करके बैठ गए और फिर उठ के उन्होंने कहा कि नहीं जाना ही पड़ेगा होगा संसार माया होंगे सब संबंध झूठे लेकिन मेरे भीतर जो छिपा है वो कहता है जाना ही पड़ेगा लेकिन शक हो सकता है शक हो सकता है हमें कि ये असली अंतकरण हो ना हो क्योंकि आखिर माँ दिया वचन ये संस्कार की ही छाप हो सकती है समाज की ही छाप हो सकती है कि दिया हुआ वचन है माँ को दिया है माँ मरती होगी आखिरी क्षण है ये समाज की छाप हो सकती है लेकिन शीघ्र ही पता चल गया साथियों को शिष्यों को कि वो समाज की आवाज नहीं थी शंकर गांव में पहुंचे नबुद्रीपाद ब्राह्मण का परिवार था श्रेष्ठम दक्षिण के ब्राह्मण गांव इंकार कर दिया कि सन्यासी बेटा कैसे दाह संस्कार कर सकता ब्राह्मणों का गांव था सन्यासी जो हो गया उसका कौन मां और कौन पिता कैसे सन्यासी बेटा दाह संस्कार कर सकता ये नहीं हो सकता ये तो सन्यास भ्रष्ट हो जाएगा शंकर ने कहा कि दाह संस्कार तो मैं करूंगा ही कोई गांव में अर्थी में सम्मिलित होने ना आया मां बजनी थी शरीर भारी था शंकर दुबले पतले बड़ी मुश्किल पड़ गई इसको मरघट तक ले जाना मुश्किल हो गया तो शंकर ने आंख बंद की उठाई तलवार तीन टुकड़े मां के शरीर के किए एक एक टुकड़े को एक एक बार ले जाकर मरघट पहुंचे इस आदमी के पास समाज वाला अंतकरण नहीं हो सकता ये जो मां के शरीर को तीन टुकड़े कर सके मित्र भी घबराए शिष्य भी घबराए उन्होंने कहा हद कर दी वचन क्या पूरा करना है कोई सीमा भी होती है तुम क्या कर रहे हो तो शंकर ने कहा जगत माया है और शरीर तो मर ही गया और शरीर को काटने में क्या दिक्कत है मैंने पूछ लिया आपने भीतर से समाज जो संस्कार देते हैं समाज सभी समाज देते हैं उन्हें एक तरफ हटाए हटाना पड़े और फिर धीरे धीरे भीतर निरीक्षण करना पड़े एक घड़ी ऐसी आ जाती है भीतर जब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है क्या समाज का है और क्या मेरा है क्योंकि जब स्वयं की आवाज आती है तो उसके विपरीत कोई आवाज नहीं आती वो एक स्वर होती समाज की कैसी ही आवाज हो उसके विपरीत आवाज सदा मौजूद होती चाहे कितना ही अंतकरण कहता हो तथा कथित अंतकरण कि चोरी बुरी है एक हिस्सा कहता है करो भी कौन देख रहा है एक हिस्सा कहता है मांसाहार बुरा है दूसरा हिस्सा कहता है सारी दुनिया कर रही तो तुम तुम्हें भले होने के लिए किस लिए पीछे पड़े हो कि तुमने भले होने का ठेका लिया कि शराब बुरी है सारी दुनिया पी रही है तुम क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो पियो अंतकरण की आवाज का एक लक्षण आपसे कहूं उसका विरोधी स्वर सदा मौजूद होता है तथा कथित अंतकरण में असली अंतकरण का विरोधी स्वर मौजूद नहीं होता एक ही स्वर होता है उसके विरोध की कोई आवाज नहीं होती तो जब तक आपको विरोधी स्वर की खनक मिलती रहे तब तक जानना कि समाज के द्वारा दिया गया अंतकरण ये परमात्मा के द्वारा दिया गया अंतकरण नहीं जिस दिन एक स्वर उपलब्ध हो जाए शंकर ने कहा कि काटेंगे उठाई तलवार और काट ही डाला एक क्षण को भी शंकर के मन में हुआ कि जरा सोच तो लू मां के शरीर को काटना ये कहीं हिंसा ना हो जाए ये मात्र हत्या ना हो जाए ये मैं क्या कर रहा हूं ये कभी नहीं किया गया किसी बेटे ने नहीं काटा और फिर शंकर जैसा बेटे ने तो कभी नहीं काटा मगर नहीं वो काट के और जाके जला आए और बड़े प्रसन्न थे काम निपट गया था एक स्वर है फिर जिंदगी में पूरी जिंदगी किसी ने कभी नहीं सुना कि शंकर को एक दफे भी ऐसा ख्याल भी आया हो कि मैंने कुछ गलत किया आप अपने अंतकरण जिसको आप अंतकरण कहते हैं तथा कथित उसकी अगर माने तो भी पछताना पड़ेगा न माने तो भी पछताना पड़ेगा ये दूसरा लक्षण आपको कहता माने तो भी पछताना पड़ेगा न करें चोरी मान ले पछताएंगे जिंदगी भर कि चूक गए सारे लोग कर गुजरे समय था अवसर हाथ में आया था खो गए फलाने ने की नहीं पकड़ाया फलाने ने की वो मंत्री हो गया फलाने ने की उसने ये कर लिया और हम भूखे मर रहे हैं कहा की बात में पड़ गए कर लें तो भी पछताएंगे क्योंकि कर लें तो दीनता पकड़ेगी गिलानी पकड़ेगी अपराध पकड़ेगा कि न करते तो अच्छा होता अंतकरण समाज के द्वारा दिया गया हर हालत में पश्चाताप लाता है हर हालत में क्योंकि दो स्वर हैं आप एक की ही मान सकते हैं दूसरे का क्या होगा दूसरा हिस्सा प्रतीक्षा करेगा आपको पश्चाताप करवाएगा उसकी मानेंगे तो पहला प्रतीक्षा करेगा वो आपको पश्चाताप करवाएगा लेकिन जिस अंतकरण की इस सूत्र में संकेत है उसकी आवाज मानकर कभी कोई पश्चाताप नहीं होता कभी तीसरा लक्षण आपसे कहूं जिस अंतकरण में हम जीते हैं इसकी स्मृति बनती है क्योंकि कोई भी कृत्य पूरा तो होता नहीं अधूरा रह जाता है क्योंकि आधा हिस्सा तो खिलाफ रहता है अधूरा रहता है चोरी भी करते हैं तो आधी आधी मन से होती है पूरा चोर आपने देखा ऐसा एक आध आदमी खोज सकते हैं आप जो पूरा बेईमान हो पूरा बेईमान का मतलब है कि जिसके भीतर जरा भी कहीं ख्याल ना उठता हो कि गलत कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं नहीं करना चाहिए कहीं कोई दबी आवाज ना कहती हो कि ये बेईमानी नहीं पूरा बेईमान खोजना मुश्किल और इन बेईमानों की दुनिया में पूरा ईमानदार आदमी भी खोजना मुश्किल है जिसके मन में ऐसा ना उठता हो कि कर ही लेते तो क्या बिगड़ जाता था वो उठता ही रहता इस अंतकरण की अगर मान के चलिएगा तो इसकी स्मृति बनती है क्योंकि अधूरा कृत रहता है अटका रह जाता है मन में लगता है पूरा कर लेते जिस अंतकरण की इस सूत्र में चर्चा है उसकी कोई स्मृति नहीं बनती पूर्ण कृत्य की कोई स्मृति नहीं होती वो होता है और खो जाता है इसलिए चौथी आपसे आखिरी लक्षणा कहूं इस अंतकरण को मानकर आप चलेंगे तो कर्म का बंध होता है क्योंकि कर्म अधूरा होता है और उसके साथ स्मृति बनती है और चिपट जाती है मन में और छूटती नहीं छूटती नहीं अगर कर्म पूरा हो टोटल एक्ट हो कोई स्मृति नहीं बनती कर्म का कोई बंधन नहीं बनता चित्त सदा मुक्त रहता है आपने जो किया है पूर्ण हृदय से वो आपके हृदय पर बोझ नहीं होता इसलिए अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा अधूरे मन से जो किया जाता है वही पाप है पूरे मन से जो किया जाता है वही पुण्य अगर मुझसे पूछें तो पाप और पुण्य की ऐसी परिभाषा है जो अधूरे मन से किया जाता है वो पाप है चाहे आपने मंदिर बनाया हो अधूरे मन से और जो पूरे मन से किया जाता है वो पुण्य है चाहे आपने चोरी ही क्यों ना की हो हालांकि पूरे मन से चोरी नहीं की जा सकती यद्यपि अधूरे मन से मंदिर बनाया जा सकता है इस अंतकरण का इस शब्द अंतकरण का पहला ख्याल ले ले दूसरा शब्द है प्रणव ओंकार ओम भारतीय साधना के बहुत बहुत रूप है बड़े भेद हैं उनमें बड़ी विपरीतताएं हैं बड़े विवाद हैं जैसे तीन बड़े भारतीय स्वर हैं साधना के जैन बौद्ध हिंदू तीनों में बड़े सैद्धांतिक विवाद हैं कहीं कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता हिंदू मानते हैं ईश्वर को भी आत्मा को भी जैन मानते हैं सिर्फ आत्मा को ईश्वर को नहीं मानते बौद्ध न मानते ईश्वर को न आत्मा को बड़े मौलिक भेद है लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि ओम के संबंध में तीनों एक साथ राजी हैं प्रणों के संबंध में जरा भी विवाद नहीं छोटी छोटी चीज पे विवाद है और कहीं कोई तालमेल नहीं है लेकिन ये ओम शब्द के संबंध में कोई विवाद नहीं है तो लगता है कि ओम जो है वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है वैज्ञानिक बात है और न केवल भारत में भारत के बाहर जो तीन बड़े धर्म हैं यहूदी इस्लाम और ईसाइत ओम के संबंध में उनका भी कोई विवाद नहीं यद्यपि वो उसको अमीन कहते हैं बस इतना ही फर्क है और ओम जो है और अमीन जो है भाषा शास्त्री कहते हैं वो एक ही चीज है उनमें कोई फर्क नहीं है वो सिर्फ भाषा में उस ध्वनि को पकड़ने में फर्क हुआ है इसलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूं ओम एक शब्द है पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसमें दुनिया के छह महत्वपूर्ण धर्म राजी है जिसे वे स्वीकार करते हैं कि इसमें कुछ है इस शब्द में क्या है इसे हम दो तीन प्रकार से ख्याल में लें एक मनुष्य का मन जो है वो शब्दों का समूह है आपके मन में क्या है सिवाय शब्दों के अगर आपसे हम सारे शब्द बाहर निकाल लें तो आपका मन नहीं बचेगा आपका मन करीब करीब ऐसा है जैसे कि प्याज होती सब छिलके बाहर निकाल लें तो प्याज में पीछे कुछ बचता नहीं ऐसे आपका मन है शब्दों के छिलके सब शब्द बाहर निकाल लें तो पीछे क्या बचेगा मन तो नहीं बचेगा शून्य बचेगा सोचें थोड़ा आपके आपके पास कोई शब्द ना बचे तो आपके पास कौन सा मन बचेगा क्या बचेगा शब्दों का समूह है मन और इसी मन से हम सब कुछ कर रहे हैं बुरा या भला दुख या सुख संसार या मोक्ष जो भी हम कर रहे हैं इस मन से कर रहे हैं ये ओम एक शब्द है शब्द कहना ठीक नहीं एक ध्वनि है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं शब्द उस ध्वनि को कहते हैं जिसमें कुछ अर्थ हो ओम एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं सिर्फ ध्वनि लेकिन इस ध्वनि में समस्त मूल ध्वनियों का सार है आ उ मा ये तीन मूल ध्वनिया है जैसा मैंने कल आपको कहा कि भारतीय मनीषा को तीन का बड़ा बोध है और जैसा मैंने आपको कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ये जीवन के तीन अंग हैं जैसा मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या पॉजिटॉन फिजिक्स की दृष्टि में पदार्थ के तीन आधार हैं ऐसे ही भारतीय मनीषा की दृष्टि में आ उ मा समस्त भाषा समस्त वाणी समस्त शब्दों के तीन आधार सब ध्वनियां इन तीन ध्वनियों के जोड़ तो मौलिक तीन ध्वनिया ओम में है हम ऐसा कह सकते हैं कि ओम जो है ध्वनि की दृष्टि से एटम ध्वनि की दृष्टि से अणु इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन तीन विद्युत कणों से मिलकर परमाणु निर्मित होता है पदार्थ का आ उ मा तीन से निर्मित होकर जो परमाणु बनता है वो है मन का ओम मन का परमाणु है और सूक्ष्मतम परमाणु है इससे सूक्ष्म कोई परमाणु नहीं हो सकता इसको हम तोड़ दें जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन को तोड़ दें तो फिर हमारे हाथ से परमाणु खो जाता है शून्य में फिर पीछे कुछ मिलता नहीं फिर पीछे कुछ पकड़ में नहीं आता सब निराकार हो जाता लेकिन उसके टूटते ही विराट ऊर्जा पैदा होती है जिसको हम अणु विस्फोट कहते हैं वो अणु विस्फोट इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन और पॉजिटॉन के तीनों के अलग हो जाने से इन तीनों के बीच जो ऊर्जा छिपी थी जो अनंत शक्ति छिपी थी इन तीनों के हटते ही रिलीज होती छूटती एक परमाणु बम हमने गिरा के देखा हिरोशिमा पर पांच मिनट के भीतर एक लाख बीस हजार आदमी राख हो गए एक छोटा सा परमाणु जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता उसका विस्फोट है उन तीनों के जुड़े रहने से उतनी शक्ति उसके भीतर छिपी है छूटते ही इतनी शक्ति बाहर विसर्जित होती है ठीक भारतीय मेधा ने भी क्योंकि भारतीय मेधा ने पदार्थ पर बहुत मेहनत नहीं की क्योंकि उसे लगा कि पदार्थ की मेहनत कहीं ले नहीं जाती पदार्थ पर मेहनत करके भी देख ली तो भी आदमी को कुछ उपलब्ध नहीं होता सिर्फ वहम होता है कि मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है और हाथ खाली रह जाते भारतीय मेधा ने पदार्थ पर मेहनत छोड़कर मन पर मेहनत शुरू की क्योंकि जिस मन को ही सुख दुख होते हैं उसे ही क्यों ना बदल डालें जिन वस्तुओं से सुख दुख होते हैं उन्हें इकट्ठा करने की बजाय जिस मन को सुख दुख होते हैं उसे ही क्यों ना बदल डालें ये भारतीय दृष्टि निर्मित हुई ये बहुत अनुभव से हुई उन सब चीजों को इकट्ठा कर लिया जिनसे सुख मिलता है फिर भी पाया कि इकट्ठे होते ही उनसे सुख नहीं मिलता जिनसे दुख मिलता है उनको अलग करके भी देख लिया अलग हट जाने पर दुख किसी और से मिलना शुरू हो जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता अंततः पाया कि वस्तुओं से सुख दुख का कोई सीधा संबंध नहीं है सुख और दुख के लिए वस्तुएं सिर्फ खूंटियों का काम करती हैं घर में हम जाते हैं खूंटी पे कोट टांग देते हैं अगर खूंटी ना मिली तो दरवाजे पे टांग देते हैं दरवाजा ना मिला खिड़की पे टांग देते हैं कोट कहीं ना कहीं टंगता ही है खूंटी से कोई बहुत प्रयोजन नहीं है इसलिए खूंटी तोड़ दो बड़ी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता कोट टंगी जाता है भारतीय मन ने जाना कि वस्तुएं केवल खूंटियों का काम करती हैं और मन उन पर टंगता है कोट की तरह तो अगर दुखी मन है तो हर खूंटी पर दुखी हो जाता है सुखी मन है हर खूंटी पर सुखी हो जाता है शांत मन है हर खूंटी पर शांत रहता है अशांत मन है हर खूंटी पर अशांत हो जाता है इसलिए सवाल खूंटियां बदलने का नहीं इस मन को ही बदल लेने का है तो मन की खोज शुरू की और मन की खोज में जो विश्लेषण उन्हें लगा उसमें उन्होंने पाया कि ओम जो है प्रणव जो है वो मन का परमाणु है क्या इस परमाणु का भी विस्फोट हो सकता है अगर हो सके तो इस परमाणु से भी ऊर्जा पैदा होगी क्या इस परमाणु का भी एक्सप्लोजन हो सकता है योग कहता है हो सकता है और इसका अगर विसर्जन हो जाए अगर ये टूट जाए तो भीतर ऊर्जा पैदा होगी भीतर अग्नि पैदा होगी और वही अग्नि व्यक्ति को उसके अहंकार को उसके कर्मों को उसके पापों को उसके पुण्यों को उसने जो भी किया है उसके अतीत को उसके समस्त बोझ को उसके समस्त भार को राख कर देती है यही अग्नि अब इस सूत्र को हम पढ़ें ज्ञानी लोग अंतकरण को नीचे की अरणी बनाते हैं और प्रणव को ऊपर की और इन दोनों से ज्ञान के मंथन का अभ्यास करते हैं इससे जो ज्ञानाग्नि पैदा होती है उसमें अपने समस्त दोषों को जलाकर संसार बंधन से छूट जाते आपने शायद अरणी देखी हो दो लकड़ियों को रगड़ के आग पैदा हो जाती दो सूखी लकड़ियों को रगड़ के आग पैदा हो जाती उन पुराने दिनों में जब ये उपनिषद लिखा गया तब आग को पैदा करने का वही सर्वसुलभ उपाय था या तो चकमक का पत्थर होता है उनको दो को रगड़ो या अरणी विशेष तरह की लकड़ी होती उन दोनों को रगड़ो तो अग्नि पैदा हो जाती तो ये सब प्रतीक है इस प्रतीक में ऋषि ने कहा है कि अंतकरण को नीचे की अरणी नीचे की लकड़ी और ओम को ऊपर की लकड़ी ऊपर की अरणी और इन दोनों की रगड़ से जो अग्नि पैदा होती है वो अग्नि व्यक्ति के समस्त अतीत को समस्त कर्मों को समस्त अज्ञान को जला के राख कर देती है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है ओम um. एक अरणी इस ओम का आंतरिक उच्चार उसकी मैं आपसे बात करूंगा पहला बात पहली बात अंतकरण की खोज क्योंकि आपका जो थोथा सामाजिक अंतकरण है उसमें आग माग बिल्कुल पैदा नहीं हो सकती उसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता वो अरणी नहीं बन सकता इसलिए मैंने अंतकरण की इतनी बात आपसे की पहले इस अंतकरण की खोज फिर ओम का आंतरिक उच्चार तो ओम को हम तीन तरह से उच्चार कर सकते एक तो जोर से ओठों के द्वारा वो बहिर उच्चार है फिर हम ओठों को बंद कर लें जीप का भी उपयोग ना करें लेकिन भीतर मन में ही उच्चार करें वो नंबर दो का उच्चार है वो मध्य का उच्चार है फिर एक तीसरा और आंतरिक उच्चार है जब हम न तो ओठों का उपयोग करें न कंठ का उपयोग करें न मन का उपयोग करें और सिर्फ ओम गूंजता रह जाए जब ये तीसरा उच्चार संभव हो जाता है तो ओम की जो परम आणविक स्थिति है वो हमारे हाथ में आ जाती और नीचे का अंतकरण हमारे पास हो और ये ओम की परम आणविक सूक्ष्मतम मात्रा हमारे साथ हो तो इन दोनों की रगड़ से जो अग्नि पैदा होती है वही ज्ञानाग्नि है तो पहले तो उच्चार करके बाहर ही ओम का अभ्यास करना होता पहले तो ओट से ही वाणी से ही ओम का उच्चार करके अभ्यास करना होता फिर ओठ बंद कर लें फिर मन से ही उच्चार करें प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है इंटेंसिटी पर त्वरा पर निर्भर है कितनी तीव्रता से तो जल्दी भी हो जाता है कितनी सघनता से कितनी प्यास से तो जल्दी भी हो जाता फिर जब मन का उच्चार इतना सहज हो जाए कि आप कोई भी काम करते रहें और मन का उच्चार चलता रहे आप भूल जाएं तो भी चलता रहे हो जाता है आप रास्ते पे चल रहे हैं उच्चार चल रहा है आप काम कर रहे हैं उच्चार चल रहा है भोजन कर रहे हैं उच्चार चल रहा है फिर तो धीरे धीरे ऐसी हालत हो जाती कि आप बात भी कर रहे हैं तो उच्चार चल रहा है जब उच्चार इतना स्वाभाविक हो जाए कि आप सो भी रहे हैं उच्चार चल रहा है सोते हैं तो भी उच्चार चलता रहता है सुबह नींद खुलती तो जो पहली बात स्मरण में आती है वो उच्चार का अनुभव आता है उच्चार चल रहा है और सुबह पता चलता है कि रात वो चलता ही रहा स्वामी राम अमेरिका से वापस लौटे तो सरदार पूर्ण सिंह उनके पास थे हिमालय में एक रात आधी रात है दोनों एक कमरे में सोए हैं पूर्ण सिंह को नींद टूट गई अचानक राम राम की आवाज कमरे में सुनाई पड़ी तो वो बहुत हैरान हुए कि क्या राम तीर्थ जग रहे हैं राम का उच्चार कर रहे हैं गए तो रामचित तो सो रहे हैं उनकी नाक से गर्राटे की आवाज आ रही वो तो गहरी नींद में पर आवाज आ रही क्या कोई मकान के आसपास आवाज कर रहा है डरे हुए बाहर गए टार जला के सब तरफ देखा है एकांत वन है कहीं कोई नहीं है वरंडा खाली है दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वरंडे में जाने पे पता चला कि आवाज थोड़ी कम हो गई भीतर आया तो आवाज बढ़ गई तो समझ में आया कि आवाज तो कमरे के भीतर ही हो रही लेकिन कमरा तो एक ही है बिस्तर के दोनों के नीचे झांक के देखा कहीं कोई नहीं झांक के जब देख रहे थे तो राम के खाट के पास गए तो वहां आवाज और ज्यादा मालूम पड़ी तो राम के हृदय पर कान रख कर देखा तो पता चला वहां आवाज आ रही पैर के पास रख कर देखा तो पता चला आवाज आ रही हाथ के पास रख कर देखा तो पता चला आवाज आ रही राम की एक आवाज पूरे शरीर में ध्वनित हो रही घबरा गए चौक के राम को उठाया कि क्या हो रहा तो राम ने कहा इसमें क्या बात है बहुत दिन से चल रहा है पहले मैं भी चौंक जाता था खुद ही चौंक जाता था कि कोई दूसरा तो नहीं कर रहा क्या हो रहा है लेकिन अब ये सहज हो गया ये भीतर चलता ही रहता है चलता ही रहता है तू थोड़ा शांत रहा होगा इसलिए तुझे सुनाई पड़ गया शांति से सो जा जब ऐसी अवस्था बन जाती है तब तीसरी संभावना खुल सकती है तब फिर करना ही नहीं पड़ती तब मन को भी अलग किया जा सकता है कि मैं करूंगा ही नहीं अपनी तरफ से शांत बैठ जाऊंगा मैं करूंगा ही नहीं न ओठ से न मन से मैं कोई संकल्प से कुछ करूंगा ही नहीं तब अचानक पता चलता है कि आवाज तो हो रही मैं सुन रहा हूं कर नहीं रहा हूं जब मेरे ही भीतर मैं सुनने वाला हो जाता हूं करने वाला नहीं तब परम आणविक स्थिति ओम की उपलब्ध होती है तब अरणी बन जाता है ओम और तब इस ओम का जो विस्फोट है नीचे की अंतकरण की अरुण से टकरा के जो विस्फोट होता है वो विस्फोट व्यक्ति के भीतर सब सब जो व्यर्थ है सबको जला जाता है उसके बाद व्यक्ति वही नहीं है जो था दूसरा हो गया ये दूसरा ही जन्म है पुराना आदमी समाप्त ही हो गया इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं इन दोनों के बीच कोई कंटिन्यूटी कोई सातत्य भी नहीं है वो गया ये दूसरा ही आदमी है और जब तक ऐसी अंतर अग्नि न जल जाए तब तक व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त नहीं होता है अंतिम बात हमारे भीतर अस्तित्व ने वो कुंजी रख दी है जिसका हम कभी भी उपयोग करें तो मुक्त हो सकते ना उपयोग करें वो हमारी जिम्मेवारी है human bondage has been the, the basic problem for the religious mind and particularly in the East. In the West, human sin has been the basic problem, not human bondage. So how to get away from sin how to get salvation from sin was their quest in the west but in the east the problem around which a whole indian religions have evolved has been human bondage how man can be free not from sin not from ignorance not from anything in particular, but just to be free. A freedom which is from something is not a real freedom. Simply freedom, not from something, not for something. Because if you are free from something, you are still attached to it. You have reacted rebelled but you are deeply connected with it your freedom from something is a reaction and a reaction is a continuity modified howsoever but it is still a continuity if you react against something you go on being concerned with it. Even in your freedom, that against which you have rebelled will remain as an essential part. Freedom from something is not authentic, real freedom. Freedom for something is also not real freedom because you are really seeking for a new slavery, a new bondage. If someone says, I'm looking for freedom for this, freedom for this, that means I'm looking only for a new bondage. Religious freedom means simply freedom, neither from something nor for something. Just freedom. This is not a reaction. This is not a longing. This is an explosion. How this explosion happens is the subject matter of this sutra. How this explosion to be simply free. Simply free. Totally free. But how this explosion is possible? religion is also a science science of the inner and yoga means only techniques techniques of the inner science one technique is given here one one of the most basic technique how to get inward explosion to be totally free. This sutra says that if you can find your conscience, then something can be done. But we don't know what conscience is. Whatsoever is known ordinarily as conscience is just a social conditioning. Every society conditions its members. Then the conditioning goes deep down and begins to behave as your conscience. If you are going to kill someone, then your so-called conscience will say, don't kill. This is not good. This is against the Ten Commandments. This is not conscience. This is just social conditioning the society has taught you. But the society also teaches you to kill in, in certain situations. In a war, then you can kill. Then your conscience will not be a bar to it, will not create any hindrance. Why? Because the same society also gives you a conditioning that in war it is your duty. In war it is good. In war it is not a crime to kill. In war it is righteous. It is virtue to kill and to kill more. So, so more you kill, the more virtuous you become then your conscience will not be will not be against killing but this is really strange if you kill someone whether he is your enemy or not makes no difference killing is killing but if you kill one individual even if you are enemy then you are a criminal and your conscience will feel the prick the suffering the anguish the condemnation and the whole society will condemn you but if you kill in war wholesale killing your conscience will not feel any guilt and your society will worship you as a hero why if you have got really a conscience this disparity cannot exist but you have not got only a social trick to make use of you in the social mechanical structure to make you a part of it so ordinarily you are given one type of conscience and in emergency matters you are given a different type of conscience. This is a social trick to make your individuality less and less individual and more and more social. Society needs it and society cannot exist without it. Agreed. But this much of conscience will not lead you to the inner explosion because it is not a conscience at all in this sutra by conscience antahkaran the indian word antahkaran is very meaningful it only means the instrument of the inner soul this so called conscience is an instrument of the society. It has been put from the without in you. It has been a penetration in you from without. Antahkaran means the instrument of the inner one. The voice of your authentic soul, of your own consciousness. So first one has to find out this antakaran, this conscience, this inner voice. How to find it? The moment you move within, you, you stumble upon the social conscience, the so-called instrument of the society within you. So one has to be aware and to remember what is social a deep observer inside observe what is social in you what has been given by our society you can use some some criteria to judge what is social one anything that has been given by the society to you can never become your total mind your mind will always be divided one part will say don't do this another part will say simultaneously do this it may be that one part is major and another is minor but you can never have a unanimous voice with the social conscience it is impossible it is impossible. But the real, authentic voice of your own inner, inner one is always one. So make it this way. The social conscience is a democratic phenomenon. The inner conscience is a dictatorial phenomenon. It is total. It is totalitarian. It is one with no division, with no one opposing it. So unless you can find something which is in you one, without any opposition, without any division, totalitarian, Unless you achieve something like this, you have not achieved the basic rock of your conscience. Then you are stumbling with your society. Second criterion, whatsoever you do with social conscience, you will suffer. Whatsoever you choose, you will repent. Whatsoever you do, you will feel you have not done right. Whatsoever if your social conscience says do not kill if you follow this you will repent the other part which was against will make you repent if you don't follow this then the next part which has remained unfulfilled will force you to repent with social conscience, repentance is a inevitability. Whatsoever you do, you will suffer. The bad man suffers because he has not done the good, and the good man suffers because he has not done the bad. Mullah Nasruddin was dying, and a priest has been called to pray for him, to convert him, to make him religious. At least in the moment of dying, he must repent whatsoever wrong he should have done. So the priest tries to convince Mulla for repentance. Mulla listens him and then says, Yes, I feel very much, very much repentance. But we differ about the about the the object of repentance. We agree, I also agree that I am feeling much repentance. So I agree with you that a repentance is needed, but about the object we differ. So the priest says, what do you mean? The mullah said, I am repenting those sins which I have not committed. I am repenting, very much repenting. I have lost many opportunities unnecessarily. <laughs> I should have committed them. So if next time I am to be born, I am not going to listen to this so-called conscience. A good man suffers, repents. A bad man suffers, repents. It is not a question of bad and good. It is a question of the so-called artificial conscience. With the real conscience, there is no repentance. Not only repentance, there is no memory formation. Whatsoever you do, you have done it so totally, so unanimously, it drops from your mind completely. You transcend it. You don't carry it. You don't have to carry it. It doesn't become a continuous burden on your mind. Only incomplete acts become burden. They become heavy. They follow you. They haunt you. You cannot throw them away the incompleteness becomes a deep wound it will be with you so whatsoever you have done incompletely and with the social conscience nothing is possible to do completely because one part is always in opposition with the natural the spontaneous the spiritual voice everything is total. Acts become total. And the moment any act is total, there is no continuity. You do it and it drops. Just like dead leaves dropping from a tree. The tree is not going to remember them. They were complete in a sense, they were perfect in a sense, and the moment has come for them to drop. just like this, accents go on dropping, and the mind remains unburdened and fresh. These are the criterions. Observe in you. And until you come to a point where division of the mind is transcended, don't stop. Go on in verse ultimately the basic rock is attained. That basic rock is one part of the techniques shown here. The second part is the word Om. This sutra says, making the mind the lower Arni churning stick and the Om the upper churning stick by repeated churning, a wise man burns up all the cards of his bondage. In old ancient India, for creating fire, churning sticks were used. They were called aranis. Two sticks rubbed can create fire. So a particular wood was used to make these sticks. Just by rubbing them, fire was created. So this sutra says, conscience is one churning stick, Om is another, and by these two, constant churning by these two an inner fire is created and that fire burns all the causes of bondage and man becomes freedom not free but freedom this om has to be understood this om is not a word it is just a sound just a sound like the sound we are using in morning meditation who. Om is just a sound like who. I am using who Then om for specific reasons. Om can be used only in a very innocent state of society. If the society is very innocent, unsophisticated, not very tense, relaxed, then Om can be used as a churning stick. Because if you say Om, it never goes below the heart. Create the sound Om, it never goes below the heart those who are very innocent ones this much is enough but in our rage which has become specifically sexual tense anxious pathological psychotic om will not help that's why i am using who who goes deep down to the very sex center who is part of a Sufi mantra, Allahu. The last part. Sufis use it as Om. They use it as Om. They begin by repeating Allah, Allah, Allah. Constantly repeating Allah, Allah becomes Allahu. If you repeat it constantly, then Allah will begin to look like Allahu. Then Allah is dropped by and by, and simply who is retained, and that who work works very deeply. And why Sufis used who? Because Arabic race is one of the most sexual one of the most sexual race on earth. So Sufis has to devise a different sound to work with their race. They used who? As I see it now, the whole world has become Arabic. Now, Om will not do. Who will do? But both mean nothing neither om means anything not who means anything they are just sounds used as an inner hammering used as an inner hammering if a person is heart oriented then om will do the work of a arani a churning stick find out your conscience the authentic real basic your own then use om but if the personality is not heart oriented but sex oriented then om will not do then who will help so it depends it depends where is your energy if it is in the heart that that means if you are love oriented, then sex oriented. If you are love oriented, then the energy of your body, mind, of your spirit is in the heart center. Then Om will do. Om is mild. But if it is not in the heart, then who will do? one thing more if it is in the heart then too who can do but if it is in the sex center then om cannot do because who passes the heart center goes deeper om goes up to the heart center cannot go deeper but in those days when this sutra was written they never felt the need of who people were innocent. More authentic to their being, less conditioned, nearer to nature, less nurtured, less cultured, less civilized, more authentic to their own being then both were simple to find out the authentic conscience was not a difficult affair it was easy then to use om was not difficult it was easy and with a natural conscience this sound om hitting it continuously hammering it creates an inner fire and that inner fire burns everything that has become the cause of our bondage it burns the whole past not only the past it burns the whole future then you are in an eternity without any past and without any future then you are just in the present then you begin to live moment to moment free totally free with no bondage with no commitment with with the past with no longing with no investment with the future moving moving to moment totally free spontaneous this freedom is the is the longing of all religions. This freedom is the flowering of the religious phenomena. Why this constant hammering of Om or Hu or any sound can create an inner fire. For two reasons. One, words are electric forces, sounds are electrical. Every sound is electrical. In Tibet, there is one famous yoga exercise known as heat yoga. So a Tibetan Buddhist monk has to pass an examination before he he becomes an perfectly ardent monk he has to pass through examination of heat yoga and heat yoga means the monk, the bhikkhu is standing in a cold night, surrounded everywhere by snow, naked. And he has to create inner heat so that his body begins to perspire. If he cannot pass this, then he cannot be ardent as a Buddhist Lama. So every Lama, to be a Lama, has to pass through this examination. And, and it happens. It happens. Cold, absolutely cold night. Even blood begins to frozen. And this bhikkhu who is being examined, and they are examined Many are examined in one night, sometimes even 1,000 being examined in one night. And they begin to perspire. Not only perspire, just they begin to burn. If you touch them, they are burning. What they are doing inside, with no outside heat, fire, nothing what they are doing and standing naked they are using a particular sound which hitting inside creates body electricity you may have heard it is not a fiction neither it is just a superstition that sometimes yogis have burned themselves through their inner heat even just 10 years before, a Sikh yogi burned himself in Uttar Pradesh before hundreds of observers just sitting in a temple meditating inside then flames were seen and the whole body was burning it was examined medically and it was proved that nothing no fuel was used nothing anything from outside was nothing was found to be used somewhere from the inside the fire has come and the whole body became just ashes a particular sound can create fire inside a particular sound can create coolness. Because sound means electricity. If you hit with a particular sound continuously, it creates heat. Om creates heat. Who creates even more heat? That fire created by Om in the conscience, in the Antakaran, burns everything. That was you. And a new man is born, a new birth, a freedom is born.